बच्चे हैं हम बच्चे हैं दिल दिमाग से बच्चे हैं हम उम्मीदों के पक्के हैं हम बच्चे हैं हम बच्चे हैं उम्मीदों के पक्के हैं हम बच्चे हैं हम बच्चे हैं एकता और संगठन का पाठ हम पढ़ाएंगे एकता और संगठन का पाठ हम पढ़ाएंगे गली गली कूचे कूचे में ज्ञान की जोत जलाएंगे गली गली कूचे कूचे में ज्ञान की जोत जलाएंगे हम बच्चे हैं हम सच्चे हैं हम दिमाग से कच्चे हैं हम बच्चे हैं हम बच्चे हैं दिल दिमाग से कच्चे हैं हम तेरी इस बेटी उम्मीदें छुपी बैठी हैं हम तेरी इस बेटी उम्मीदें छुपी बैठी है जरा गौर से हमको देखो हर चीज छुपी है हम बच्चे हैं हम सच्चे हैं दिल दिमाग से कच्चे हैं हम बच्चे हैं हम क्या मालूम है हम कैसी शिक्षा पाते हैं किसको तो क्या मालूम है हम कैसी शिक्षा पाते हैं हम बच्चे हैं हम सच्चे हैं दिन दिमाग से कच्चे हैं हम बच्चे हैं हम सच्चे हैं दिन दिमाग से कच्चे हैं हमें कसम है भारत माँ की झूठ नहीं बोलेंगे हमें कसम है भारत माँ की झूठ नहीं बोलेंगे जो भी करेंगे ठीक करेंगे सच की राह चलेंगे जो भी करेंगे ठीक यहाँ रहेंगे हम बच्चे हैं बच्चे हैं हम सच्चे हैं दिल दिमाग से कच्चे हैं हम बच्चे हैं हम बच्चे हैं दिल दिमाग से कच्चे हैं हम बच्चे हैं Thank you. na na na na na na na na na na na na na आना अपनी जुबान से तेरे नैना है बड़े मुस्कुराट से तूने कल भी कहा था आऊंगी आऊंगी तू नहीं आई तू कल फिर आना तू अपनी जुबान से तेरे नैना है बड़े मुस्कुराहट से ओ फिर की वाली तू कल फिर आना अपनी जुबान से तेरे नैना है बड़े मुस्कुराहट से तूने कल भी कहा था आऊंगी आऊंगी तू नहीं आई ओ फिर की वाली तू कल फिर आना अपनी जुबान से कहना है बड़े मुस्कुराहट से देश महान प्यारा हिंदुस्तान आज के दिन की खातिर के दिन की खातिर हमने हंस हंस के जहर पिया के जहर पिया में पेड़ा ठुक रहा क्या अरे बता ना क्या हुआ मैं सब्जी ये मैं जा रहा किस लड़की हाँ। ने मुझे नुका कि गुंडा लपंगा है तो जी सुबह देश अरे मुझे तो क्या है सर मारने की बात है अरे मुझे कुछ कुछ कह रही कुछ कुछ क्या हो मैं होता मैं इसके ताड़ा मार देता जब बिलक की मेरा कुछ पेट अगर लग गया पहले ताड़ा सुबह मार तो Ayam anneden. Dire dire. Güzel güzel. उसको खोलो बीच में मनीष इसे पहले साउंड क्लियर आएगा हाँ, हाँ, हाँ। ये आप झाला लगा हम स्कूल में गए तो गुरुजी ने कहा कि कुछ आप तुम्हें कुछ करना होगा मनीष फंक्शन हो रहे थे उन्होंने कहा कुछ करना होगा मैंने कहा गुरुजी आप दे दो उन्होंने कहा अच्छा ये कविता ले लो तुम ट्विंकल ट्विंकल वाली तो उन्होंने कहा अच्छा फिर उन्होंने कहा मैंने पूछा कि ट्यून किससे लूँ उन्होंने कहा ट्यून तुम अपनी मर्जी से लो चाहे जिससे भी मैं चक्कर में पड़ गया कि किससे लूँ फिर मैं सबसे पहले पिछाए गुरुजी पे गया मतलब वे बराबर में ही थे पास में थे रहते थे वे मैं उनके पास गया उन्होंने जो कहा वो मैं कह रहा हूँ Twinkle, हाँ। twinkle, little गया बुरी हालत हो जाएगी फिर मैं गया त्रिपुरारी जी के पास गया फिर मैं उन्होंने कहा मैंने पूछा उनसे कि सिखा दो मुझे मैंने कहा अच्छा उस वक्त लोग पूजा कर रहे थे तो जब पूजा कर रहे थे तो मैंने पूजा पूजा कर, पूजा करते करते उन्हें कह दिया जी मुझे ये इसकी टीम बता दो उन्होंने कहा twinkle, twinkle, little star. Swami, twinkle, twinkle, little star. Swami, twinkle, twinkle, little star. Swami, how I wonder what you are. Swami, how I wonder what you are. मैं सोचा मैं पूजा तो नहीं रही जो के पास जाऊंगा फिर मैंने सोचा कि चलो अब अश्वनी भाई साहब पे चलता हूँ शायद वही बता दे कुछ इनके पास गया उन्होंने का twinkle, twinkle, twinkle. littlest star. Hawaii wonders what you are. भैया काम भैया तो नहीं सोचते क्या नहीं सोचते भैया अगर तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो आज ये झोपड़ी है कल को मकान हुए कंधे से कंधा भैया आपका दिमाग तो ठीक है <laughs> आपका तो कंधा इतना ऊंचा और मेरा नीचा तो कंधे से कंधा कैसे मिल सकता है बेवकूफी वाली बात करी क्या बेवकूफी वाली बात आज से मेरे साथ खेत पर चलना होगा चलो भैया आप कहते हैं तो आप चलो घर चलते हैं खाना खाते हैं के बाद हो क्या बात है शाम की माँ हमारा राम इतनी मजदूरी करता है और हमें खिलाता पिलाता है और एक शाम जो हमारा घूमता रहता है माँ माँ हमें खाना दे अरे सामान कहाँ से पकड़ लाया देखो भैया ये फिर माँ हमें फिर आवाज निकट्टू कह रही है माँ हमें खाना दे, दे दो हम फिर खेत पर जाएंगे कान पर जाएगा ना उस दिन तो सूरज पूरा पूरा पश्चिम से निकलेगा हमें जल्दी खाना दे चलो भैया खेत पर चलते हैं चलो भैया क्या हुआ हाँ, भैया हाँ। हाँ, भैया मेरे पेट में बड़ी जोर की दर्द आओ चलो चलो मैं तुम्हें लास्ट में पढ़ने वाली नहीं नहीं नहीं भैया वो जरा हो यार मैं घर पर बैठ नहीं नहीं भैया आप चलिए मारो आओगे हाँ, चलो भैया तो गए अब किसी यार दोस्त को देखे चल यार मिंटू आज हो जाए पट्टेबाजी कुछ चलो यार हम बन बनते बनते जाए पता नहीं साहब क्यों नहीं आया घर चल कर पूछूंगा क्या तुम घर में बोल रहे क्या मैं रहूंगा चल चल चल चल चलो काफी काम हो गया घर चलते हैं माँ बाप जोर से बोल माँ माँ श्याम कहाँ है वो तो अंदर सो रहा है अंदर सो रहा है निकल तू उठ बैठा अरे भैया सोने दो ना छोड़ अच्छा निकल तू पढ़ने से कुछ फायदा है अरे भैया क्यों जा रहे हो तेज पैर कर रहे हो बात भी हुई कुछ मैंने तुझे सुबह क्या कहा था खेत जाने को कहा था फिर तू तो खेत पे भी नहीं आया बताया तो था मेरे पेट में दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो रहा है जब मैंने तुझे सुबह कहा था कि चलो मैं तुम्हें रास्ते में पढ़ने वाली थी हकीम के पास दिखा दो तो तुम क्यों नहीं गए थे वहाँ पे आपको बताया तो था कि नीम हकीम की बात ही नहीं थी वो बात नहीं थी माया घर किस टाइम आया था ऐसा तो अभी आया था नहीं चला गया तो क्या बात हुई झूठ की कभी विजय नहीं होती हाँ भैया अब चला गया तो जब सुबह कहा था कि आज मैं नहीं करने का तो गए क्यों बताया तो था मेरे पेट में दर्द हो रहा है और खेत पाने का वादा कर कहाँ खेलने गए एक दिन चले गए कहते हैं अच्छा कहते हैं एक तो चोरी पर कितना चोरी कौन करता है चोरी और कितने की सीना चोरी तू तू तू तू तू ये तो काम नहीं करता ऊपर से हमारे पास लोग झाड़ते हैं चल चल या तो घर में तू रहेगा मैं रहूंगा ठीक है आपका मुबारक हो भैया है घर मैं चला नहीं मार जब भैया को गला लगी तब मैं हूँ बाबा शाम कहाँ से आया बेटे पास वाले गांव से लड़के चला आया क्यों बेटे हाँ बाबा मुझे अब पता चला कि परिश्रम जीवन में कितना महत्व रखता है मैं अपने घर काम नहीं करता था मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया बाबा बाबा बड़ी जोर की भूख लगी है खाना मिलेगा आओ बेटे अवश्य मिलेगा आप बेटे आप यहीं बैठो मैं अभी लाया लो बेटे अच्छा बाबा जी अब मैं लकड़ियाँ ले आऊँ जाओ बेटे ले आओ आज तो शाम को खाना बनाने के लिए लकड़ी भी नहीं है या काट लाओ जो रखा है कुलाड़ा उठा ले जाओ अच्छा बाबा जंगल पे बढ़िया पीटर आप पर्वत ये पेट ठीक रहेगा सूखा भी है तो खा लो बड़ी हैरत की हो रही है हाँ भैया मुझे अब पता चला काम कितना महत्व देखो मैं घर पर ना समझाता था कि कुछ काम कर लो हाँ भैया घर पे तो मुफ्त की रोटी मिलती थी हम यहाँ मेहनत करके खाना पड़ता है जब सबको आप घर चलते हैं नहीं भैया ये मुझे लग रहा है ये लकड़ियाँ मतलब पुराना बाबा के पास देके आना है चलो हम भी बाबा के घर चलते हैं चलो बाबा बाबा देखो कौन आया है कौन आया है बेटे ये मेरे भैया हैं बाबा मुझे लेने आए हैं राम राम बेटे बैठ जाओ अच्छा बाबा बेटे आप मेहनत क्या करो मेहनत से ही व्यक्ति महान बनता है मैं तुम्हें एक मिसाल सुनाऊं सुनाओ बाबा एक कौवा था वो प्यास से बहुत व्याकुल था तो वो प्यास पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था उसे घड़े में थोड़ा सा पानी नजर आया और उसने युक्ति सोची वो दूर दूर से कंकर उठाकर लाता रहा और उस घड़े में डालता रहा और इस प्रकार पानी ऊपर आ गया उसने जी भर के अपनी प्यास बुझाई बेटे देखो बेटे मेहनत का फल सुखदाई होता है अच्छा बेटे मेहनत क्या करो अच्छा बाबा अच्छा बाबा हम सब जाओ बेटे जीते रहो बाबा जी मैं आपके आसनों का बदला किस प्रकार चुकाऊंगा कि आप नहीं बेटा ये तो मेरा कर्तव्य ही था अच्छा बाबा बाबा कहीं यहां बस आना गाना गाना मामा देखो कौन आया है कौन है बेटा माँ श्याम आया है माँ ये भी मेहनती बन गया है अगर सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूल नहीं कहते हुए माँ आप जल्दी से हमारे लिए खाना ला दो फिर हमें काम हाँ माँ बच्चों की भूख भी लगी है चलो भैया अब चलते चलते आओ ये हलन पावला उठा ला भैया हाल में उठा लूँगा हम होंगे कामयाब आकाशवाणी है अब आप विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है उन्हीं के अंग रक्षक एक सिख युवक ने उनको गोली मार दी है श्रीमती गांधी को ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया है जहां उनका बारह डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और हमारे प्यारी प्रधानमंत्री को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं अगला समाचार बुलेटिन आधे घंटे बाद फिर प्रसारित किया जाएगा ये आकाशवाणी है आज सुबह साढ़े नौ बजे हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षक दस्ते के एक सिख युवक ने गोली मार दी थी उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनको अंदाज बदलना होगा इसमें टाइप करो होगा अंदाज बदलना होगा जिंदगी वो नहीं जो मौत से घबरा नहीं जो मौत से घबरा जाए आदमी वो नहीं जो मौत से घबरा जाए वो आदमी वो नहीं जो मौत से घबरा जाए खून जुल्मों के फसाने को बदल देता है खून जुल्मों के फसाने को बदल देता है एक इंसान जमाने को बदल देता है एक इंसान जमाने को बदल देता है एक इंसान जमाने को बदल देता है ऐ गरीबों के लहू ऐ गरीबों के लहू ऐ गरीबों के लहू तुमको बलना होगा आज राज का अंदाज बदलना हो राज का अंजाम बदलना होगा राज का अंदाज बदलना होगा प्यार संभलना होगा राज का अंजाम बदलना होगा इस बुरे वक्त ने भारत पे कहर ढाया है बुरे वक्त ने भारत पे कहर ढाया है इस बुरे वक्त ने भारत पे कहर ढाया है इस बुरे वक्त पर भारत ने कहर ढाया है एक नागिन का जहर जहर में समाया है एक नागिन का जहर जहर में समाया है एक मकड़ी ने बड़ा जाल बिछा रखा है को छिपा रखा है सब महाराज ने सूरज को छिपा रखा है रब महराज ने सूरज को छिपा रखा है सब महाराज ने सूरज को छिपा रखा है रात को चीर कर रात को चीर कर सूरज को निकलना होगा आज इस रात का अंदाज निकलना हो